मैं बुद्धि से मन के द्वारा रचा हुआ पदार्थों को देख रहा था स्वप्न में तुमने जाना ना इस बात को कि मैं बुद्धि से देख रहा हूं समस्या ये होगी अगर बुद्धि को कौन देख रहा था उसमें कहा से प्रकाश आया को हार गया तत्र हमेव परम कंजोति ही रह जाए उस बुद्धि को भी देखने वाला उस बुद्धि को भी अनुभूति सुशुद्धि का आनंद अनुभूति का जो रिकॉर्डिंग करने वाला कौन था वहां में नहीं वही परम ज्योति है तदस्मित प्रभो उसी को लेकर कह रहे हैं देखो सूर्य तस्व भाषा उसी के प्रकाश से दीप्ति से इदम सूर्याद जगत विभाती सूर्या संपूर्ण जगत उसी से भाषित हो रहा है यद एवं जिसलिए ऐसा है तदेव ब्रह्म भाति चे भाति च इसलिए वाक्य में क्या है वही ब्रह्म भाषित हो रहा है सामान्य रूपेण और वही ब्रह्म ये सूर्याद विशेष रूपेण भी भाषित हो रहा है इनके साथ जड़े भाषित कौन हो रहा है सामान्य रूपेण भी वही है विशेष रूपेण भी वही है जैसे आप देखते हो आजकल के साइन बोर्डों में देखिए आजकल विशेष साइन बोर्ड आ गए लाइट वाले पूरी लाइट ही लाइट होता है ग्लास से पतरा आकर होता है स्टार दे दिया पूरा लाइट एक सामान्य लाइट भी है और हाँ, आपने जहां आपने जो रंग रंग चढ़ा रखा है उसे विशेष प्रकाश भी दिख रहा है वो सामान्य प्रकाश और विशिष्ट प्रकाश दोनों कौन है वही है कोई दूसरा क्या नहीं तो इसीलिए इसी प्रक्रिया पर वास्तव में यही ब्रह्म सामान्य प्रकाश है और सूर्यात विशिष्ट प्रकाश भी वही है उसके प्रकाश से अलग दूसरा प्रकाश ही नहीं कहने का तात्पर्य है जो कुछ सामान्य भान है या विशेष भान है सब कुछ उसको इसे कहते हैं कार्य कहते हैं विविधेन भाषा कार्यगत विविध भाष प्रकाश के माध्यम से विभाति भी वही है और कार्यगत सामान्य भाष के द्वारा भी भाषित वही है अतः तस् भ्रमणो भारूपत स्वतोपगम्य थी लेकिन वो भारूप है कैसे जाना है? वह ब्रह्म की भाष से ये सब बाधित हो रहे हैं ने वाला हूँ मैं उस ब्रह्म को प्रकाशित कर रहा हूँ ऐसा किसी को अनुभव नहीं आता जैसे आपको समझ मेरी बुद्धि खराब है क्यों खराब है भाई तुमने जाना ना फिर इस मतलब तुम अपने से बुद्धि को अलग देख रहे हो और कह रहे मैं अपनी बुद्धि को देख रहा हूँ आज मेरी बुद्धि बिगड़ी हुई है आज मेरी बुद्धि बहुत अच्छी थी इधर जो सुना सब पकड़ लिया आप अपने से भिन्न बुद्धि होने के नाते सब समझ रहे हैं ग्रहण कर रहे हैं इसलिए ज्ञापन हो गया ऐसे बुद्धि का प्रकाश मैं अलग हूँ और मेरे प्रकाश बुद्धि मेरे से अलग हो जाती मन वगैरह सारी चीजों में लेकिन ऐसा कभी आप मैं अपने भ्रम को देख रहा हूँ मेरा भ्रम ठीक है इस समय अभी ऐसा कभी आपको किसी विद्वान से या आपको कभी ऐसा अनुभव होता है मेरी आदाब हो गई लगा मैं पापी हूँ मतलब तो पाप का अध्यारोप करके कह रहा है इन वाक्य में किसी को ऐसा अनुभव नहीं उठ रहा वो कहना पड़ता है अशकत्व स्वत ये बोध होता है प्रकाश स्वरूप उसको किसी अन्य साधनों से हम नहीं जान पाते हैं जैसे ब्रह्म रूपी वस्तु से हम सबको जान पा रहे हैं वैसे किसी अन्य वस्तु से ब्रह्म को हम जान नहीं पाते हैं यदि ऐसा परंपरा मान ले तो अवस्था हो जाएगी असंभव अनुभूति का विरुद्ध भी है नहीं स्वतो अविद्यमान भाष आज स्वयं देख लीजिए जब स्वतः अविद्यमान भाष है पर दूसरे में प्रकाश को कैसे डालेगा स्वतः जो बल फ्यूज है वो कहा से जगत आदि को प्रकाशित करेगा फ्यूज वाला बल्ब क्यों प्रकाशित करता है जैसे कभी कभी आप लोग के दिमाग फ्यूज हो जाता है नहीं तो आपसे पूछते हैं तो समझ में नहीं आता क्या पूछ रहे प्रश्न ही नहीं समझ में आता आपको वह उत्तर जो था जो जवाब था उसका प्रकाशन नहीं कर सके लेकिन आपके अंदर है लेकिन बुद्धि उस समय विफल हो गई उसी प्रकार यदि यह भ्रम के स्व प्रकाशकत्व विफल हो जाए यदि स्व प्रकाशन न होता तो दूसरे को कैसे प्रकाशित कर तो दूसरे को प्रकाशित नहीं कर सकेगा इसलिए कहते हैं नहीं स्वतः अविद्यमान भाषण अन्य से कर्तुम शक्नोती जो स्वतः अविद्यमान है वह अन्य से भाषण कर्तुम नहीं शक्नोती वह अन्य का भाषित नहीं कर सकेगा घटादि नाम अन्य भाषक आदर्श जैसे घटादियों को देखो वो दूसरे को भाषित कर पाते हैं क्या नहीं कर सकते भाषकत्व भी नित्य स्थापित नहीं हो पा रहा है तो सूर्य को हम भाषक में नित्य कहा है अनेक प्रकार से आप देखते हैं रात में तो रहता नहीं नित्य कैसे माना जाए नित्य एक स्वरूप वाला वो नहीं अनुभव में आ सकता कोई भी प्रकाशक वस्तुओं को मेरी घटादियों को तो क्यों कहना है प्रकाशमय पदार्थ जिसको मैं मान रहा हूं उनकी भी प्रकाशक तो नित्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है अतएव कहते हैं ये घटारी जैसे अगर अन्य अवभाषक नहीं होते के नाम अन्य उपासक आदर्शनाथ भारूपाणच आदित्यादि नाम तक दर्शनाथ और भारूप आदि के अंदर देखने मिलता है वे तो अन्य अवभाषक हो रहे हैं अतः निश्चय हो गया जो विद्यमान अवभाषक है वही अन्य को अवभाषण कर सकता है और जो नित्य विद्यमान अवभाषक है यदि सूर्य से भिन्न ब्रह्म होता और सूर्य उसको प्रकाशित कर देता फिर तो हम उसको जगत कोटि में रख देते ब्रह्म को लेकिन सूर्य का भी अवभाषित इसलिए मानना पड़ता है क्योंकि सूर्य उसे अवभाषित नहीं कर पा रहा है ब्रह्म वेद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण अधश्चोर्ध्वं च प्रसिद्धम ब्रह्म वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम कहते हैं जो ज्योतियों का ज्योतिर में ब्रह्म बताया गया वही सत्य है सकल विकारों से रहित है इत्यादि पहले जो बताए थे उसे और स्पष्ट करते हैं निगम स्थानीय मंत्र निगमन के समान प्रतिज्ञात पदार्थ का ही पुनर्निर्णय कथन करने का नाम निगमन होता है ब्रह्म इदम सर्वम ब्रह्म ही क्या है यह सब कुछ है अमृतम और ब्रह्म ही अमृत है अमृत स्वरूप यह ब्रह्म ही सबके आगे भी है पुरस्तात वही ब्रह्म पीछे भी है पश्चात ब्रह्म दाया और है दक्षिण उत्तरेण बाई और भी है अधश्च ऊर्धन नीचे भी है ऊपर भी है प्रसृतम सर्वत्र फैला हुआ है ब्रह्म इदम विश्वम इदम वरिष्ठम अधिक और क्या कहा जाए यह संपूर्ण विश्व का वह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म वो ब्रह्म ही भाष्यकार ज्योतिषाम ज्योतिर्ब्रह्म वह जो ज्योतिर्मय पदार्थम का भी सर्वभूता ज्योति व ब्रह्म ही है जो कहा गया था तदेव सत्यम वह ब्रह्म ही सत्य है विकारम विचार विकार नाम वह कहते हैं वास्तव में कोई विकार नहीं है वह त्रिकाल आबाद सत्य स्वरूप है इसे उसके विवर्त है विकार यहाँ पर विवर्त है उसके ये विवर्त रूपा है क्या विकार की वाणी का विलास मात्र है नाम कथन के सिवा और कुछ नहीं है अंधकम इतना इसलिए ब्रह्म से भिन्न जो कुछ भी है वह सब अंधेरा यदि अर्थम विस्तरेण हेतु तो प्रतिपैड यही बात को विस्तार रूप से विभिन्न प्रकार के आविसन्नितम इत्यादि हेतुओं के और विशेषणों के द्वारा सूचित कर प्रतिपादन कर दिया है अतः निगमन स्थानीय मंत्रण पुनरुपसंहरती निगमन स्थानीय मंत्र के द्वारा अब उसका उपसंहार किया जाता है प्रतिज्ञा हेतु है ना उदाहरण उपनय और निगमन कोई भी वस्तु युक्ति पुरस्कृत करनी है तो पंचावय मानते नहीं आएगी लोग और हम लोगों की आदत ही नहीं माना गया है वेदांत में आदित्य या अंत्य को ही मानते हैं का पक्ष ले लेना उदाहरण उपनय और निगमन तो निगमन स्थानीय मंत्रेण पुनः उपसंहरण है ब्रह्म उक्त लक्षण इदम प्रस्ताद जो उक्त लक्षण वाला ब्रह्म है वही यह है जो हम सब के सामने अग्रे ब्रह्म अविद्या अविद्या दृष्टि नाम प्रत्योभाषमान तथा क्योंकि जो है ब्रह्म ही अविद्या दृष्टि वालों के लिए सामने है अलग से है स्व से भिन्न रूपेण विविध रूपेण अवभाषित होता है तथा इसी प्रकार पश्चात ब्रह्म दक्षण सौत्रेण तथैवागस्ताद ऊर्धंच सर्वतो अन्य इव कार्याकरण प्रसृत सर्वदा जो कुछ भी कार्याकार में बाहर में फैला हुआ है वह तो यह ब्रह्म ही है प्रगतम नाम रूपवत अवभाषमान नाम और रूप वाला होकर भाषित होता है जो कुछ भी कार्य रूप में जगत यह सब उसी का विवर्त है समझो किम बहुना ब्रह्म इदम विश्व समस्तम और अधिक क्या कहा जाए ब्रह्म ही यह समस्त विश्व है इदम जगत संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है कि ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है रज्जु से भिन्न जैसे सर्प नहीं होता या ब्रह्म से भिन्न अधिष्ठान से भिन्न कोई भी वस्तु कल्पित वस्तु हो नहीं सकता वरिष्ठम वरतम इसलिए यह वरिष्ठ श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ अव्रम प्रत्यय सर्व अविद्या मात्र जो कुछ भी अब्रह्म प्रत्यय हो रहा है वह सब के सब अविद्या मात्र है जैसे रज्जु में सर्प का ज्ञान ब्रह्म एकम परमार्थ सत्यमिति वेदानुशासन इस वेद के द्वारा यह अंतिम उपदेश है कि ब्रह्म ही एकमात्र परमार्थ सत्य है समझो बाकी जो कुछ भी है वो तो अपारमार्थिक है मिथ्या है इन सब जगह सामाजिक अन्य प्रयोग बहुत किया है ना ब्रह्म इदम अमृतम ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणता ब्रह्म उत्तरेण सब सामनाधिकरण प्रयोग जहाँ पर करते हैं तो सामनाधिकरण को समझना चाहिए चार प्रकार का सामनाधिकरण विचार किया हुआ है नीचे टिप्पण में विस्तार से है मैं आपको बता दूंगा तो देख लेना एक है बाधा सामनाधिकरण कहते हैं बाध पूर्वक सामनाधिकरण प्रयोग होता है जैसे चोर वयम स्थान हूँ ये ढूंढ क्या है चोर है कह दिया लेकिन बाद में तो देखा नहीं ये तो चोर नहीं तो टोंटी ठोन ठगेगा तो बात हो रहा है रज्जु सर्प इत्यादि है, है? ये सब बात करने वाला है हम सर्प इत्यादि तीसरा हम करके जो वृष्टि भाव वाला रह करके भी बोलते हैं हम में ये भी बात समानाधिकरण जो अहम बोध जो वृष्टि है वह शुद्ध ब्रह्म नहीं है जो जीव है ना स्वपालिक वस्तु लेकिन वहां पर बाल पूर्वक जो है निरुपाधि वस्तु को दूसरा आध्यात्मिक साम्राज्यकरण अध्यास साम्राज्यकरण सिंह मानव मानव में सिंह का अध्यास धर्माध्यास कर दिया गया है यहाँ अर्थाध्यास नहीं है धर्माध्यास है अध्यास जो है एक अर्थाध्यास है एक धर्माध्यास है अर्थाध्यास वस्तु को ही आपने मान लिया जैसे शरीर को ही आत्मा मान लिया ये क्या है अर्थाध्यास ताकत का अच्छन कर दिया इस शरीर यह अर्थाध्यास जो पूर्व है जिसका बाद हो जाता है बाद और सिंह में मानव का तो ये काल में ग्रहण कर रहे उसी कारण बारिश है ही जिस समय आप बालक को सिंह कह रहे हो उस समय ही वो बाधित हो चुका है लेकिन वहां धर्म का अध्यास अर्थ का अध्यास इसलिए नहीं मान सकता कि यहाँ शब्द ग्रहण काल में ही अर्थ का अध्यास खत्म हो जाता है बाधित हो जाता है अथवा क्यों धर्माध्यास मानते हैं उस तरह में हम आध्यासिक और दोनों वाला कर दिया अर्थाध्यास वाला जो सामाजिक नहीं है उसका नाम रख दिया बाध सामान उसका अध्यास साम्राज्य नहीं कहते हैं बाध और जो धर्माध्यास वाला है उसको कहेंगे अध्यास साम्राज्य नियम ये नाम रख दिया गया तीसरा है विशेषण विषय का सामना जैसे नीलम उत्पलम यदि नीलवान उत्पल है नील तो उत्पल नहीं है सामनाधिकरण जो उत्पन्न हो लक्षणापूर्वक ग्रहण करता हुआ सामनाधिकरण नियम ऐक्य विषय सामनाधिकरण तत्व अस्थित में जैसे स्वयं देवदत्त इत्यादि जितने भागत्या लक्षण वाला प्रकरण आता है जड़ लक्षण वाला विषय आते हैं अथवा जहाँ पर जो एक विषय विषय उसको कहते क्या साम्राज्य ये दृष्टान्त है लौकिक में प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र वेद वेदांत में सत्यम ज्ञान अनंतम है तत्वसी भी ऐक्य विषय साम्राज्य करने हैं इसलिए तू तो एक है एक विषय ही है वो सब शब्द तो एक विषय साम्राज्य करके विचार किया गया चार प्रकार समाज करना ज्यादा उचित बनता है अब कहते हैं कि भाई ये पारा विद्या भी हो गई अपरा विद्या भी कह दिया पूरा तो काम खत्म हो गया फिर आग्रह आग्रह अग्रह मुंडक क्यों है दो ही मुंडक में सारा काम हो गया प्रथम मुंडक में अपरा विद्या द्वितीय मुंडक में परा विद्या हो गया अब तीसरा मुंडक किस लिए अवतरणिका में भाष्यकार कहते हैं परा विद्या उक्ता पेया तदक्षरम पुरुषात्यम सक्षम अधिगम्य थे परा विद्या कह दी गई है जिसके द्वारा आप पुरुष नामक व सत्यभूत अक्षर तत्व को ग्रहण कर लेते हैं ये अधिगमे जिसके अधिगमन होने पर क्या होता है वो भी फल भी बता दिया हृदय ग्रंथिया संसार कारण से आत्यंत विनाश हृदय ग्रंथि आदि रूपा जो संसार का कारण है उसका आत्यंतिक नाश हो जाता है दर्शन उपाय उस दर्शन के साधन भी बता दिया धनुराज उपादान कल्पना यह उक्त धनुराव को इत्यादि नाव लेकर के जीव ही बाण है इत्यादि कहकर उत्पाद के द्वारा ये दृष्ट ग्रहण करके तद द्वारा उस कल्पना से ही साधन का वर्णन कर चुके हैं और उससे पहले प्रगम अपराध की सारी कहानी हो चुकी थी इसलिए परापरा विद्या जो कुछ विषय था वो तो समाप्त हो चुका है तो अब क्या करने जा रहे हो अत इधानी अब इसके अंतर इस समय हम क्या करने जा रहे हैं ये जो साधना है प्रणव जिसको बताया गया था जिस प्रणव रूपी ध्वज पर चढ़ाकर जीवात्मा को ब्रह्म में लक्ष्मी ब्रह्म लीन कर दो वो कैसे करूंगा उसके सहकारी साधनों को जानना पड़ेगा ना क्योंकि हर कोई व्यक्ति सीधे पढ़ो का प्रयोग करके लक्ष्य वेदन करने में समर्थ नहीं जीव ब्रह्म ऐक्यता को करने में सामर्थ्यवान नहीं होते हैं तो ऐसों के लिए अगला मंदाधिकारी के लिए अपराधित हो गया उत्तमाधिकारी के लिए पराधित्य भी हो गया जो न मंद है ना उत्तम है मध्यम वाला है उसके लिए अब यहां से आरंभ होता है मध्यमाधिकारी का प्रकरण है इसलिए कहते हैं तब सहकारिणी सत्यादि साधनानि वक्तव्यानि तद अर्थम उत्तरारंभ उत्तर चर्चा उसके जो सहकारी है ये धारणा कैसे करूंगा जब तक आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सब मजबूत नहीं है तो धारणा कैसे हो जाएगी और उससे कथे आसन प्राणायाम कैसे होगा वो भी सही नहीं होगा जब तक यम नियम का पालन ना इधर सत्य आदि जो यम नियम है उन्हीं को यह कथन करेंगे और उसको कथन करने के लिए भूमिका पहले बताएंगे क्यों ये जरूरत है भाई मध्यम अधिकारी थोड़ा की होता है मंदाधिकारी तो सीधा होता है और उत्तमाधिकारी भी बहुत सीधा होता है दोनों ही बहुत सीधे होते हैं ये मध्यम अधिकारी खटपटी होता है वो खटपटिया होते हैं ये बहुत तर्क वितर्क कुतर करने वाले होते हैं मंदाजी कर्म करो वो कर दे हाँ जी महाराज ठीक है जो कर दिया हमने कर दिया छुट्टी हो तो जैसे को वैसे करती जाए क्योंकि अपने अकल को है नहीं विशेष और बड़ी श्रद्धा रहती है ऐसे लोगों में जैसे कहोगे वैसे कर देंगे और अधिकारी है फिर सारा परीक्षा लोग का कर्म छान वाला वो सब कुछ जानता है इसलिए जो वो भी बिल्कुल पक्का रहता है अपने मामले में और कहते हैं भाई गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ जैसे कहेंगे वैसे करके लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा इसलिए मंदाधिकारी बहुत आसान है वो भी मोक्ष आना आसानी से पाएगा स्वकरण सिद्धि में दति मानव वाली बात है और मंदाधिकारी तो बहुत ही झटी ही मुक्ति पा सकता है लेकिन उसकी मुक्ति का मारा लगाते नहीं वो गड़बड़ है उसको समझाते नहीं स्वकर्णतम अभ्यर्च करो वो नहीं बताते कर्म करने तो बता दिया उस कर्म का समर्पण नहीं बताते ईश्वर निधान पर नहीं बताते समस्या यहाँ आती है नहीं तो मंदाधिकारी साधुओं से बहुत जल्दी आगे बढ़ जाए इसलिए साधु लोग शायद नहीं बताते उन्हें कोई रास्ता सही क्योंकि जितने भी साधु समाज मध्यम मध्यमाधिकारी यहाँ अधिकारी ढूंढना पड़ेगा मैं पहले बता चुका ब्राह्मण सन्यासी कितने होंगे आपको वैश्य शूद्र सन्यासी बहुत मिलेगा वैश्य सन्यासी भी बहुत मिलेंगे और आज के तो क्षेत्र सन्यासियों की तो बोला बोला चल ही रहा है ब्राह्मण सन्यासी तो ढूंढना पड़ जाते हैं बहुत तो ही कम मिलते हैं जातिया ब्राह्मणों का सन्यास लिए की बात नहीं कहता हूं मैं वास्तव में जो ब्राह्मण सन्यासी की बात तो इसे उत्तम वाली कार्य तो अति विरल है अति विरला वाली बात है स्व अति विरला तो अति विरल है और मंडाधिकारी बहुत है लेकिन वो अंधेरे नियम मान्यता तो अंधावारी कहानी में फंसे पड़े हैं उनको सही मार्गदर्शन ही नहीं मिल रहा है होलसेल में अमन्य अधिकारी रह गए हैं जो यहाँ आ जाते हैं भूले बढ़ के लेकिन उनके मन दिमाग अंत शुद्ध है नहीं तर्क उतर्क उतर्क करते रहते हैं किसी एक के प्रति श्रद्धा टिकती नहीं है सब जो अन्यथा सिद्ध ही होते हैं चार दिन आए चार चार दिन नहीं आए पाठ क्या होगा उसका तो ऐसे होने के कारण तो उनके लिए कहते हैं भाई तुम पहले यम नियम ठीक से पालन करो अपने आप सब सही होते जाएगा लेकिन कैसे पालन करेगा वो भी नहीं मानेगा उसे भी तरफ को उधर करेगा ना इसलिए उसको संसार को समझाना पड़ता है अरे तू क्या है तू समझ पहले तू भी एक चिड़िया है इस घोसले के भीतर शरीर के पेड़ में हृदय भी घोसले के तू एक छोटी सी चिड़िया है और वो भी दूसरी चिड़िया बड़ा है वो तुमको जो है ना हमेशा डरा बड़ा करके देखते रहता है जिसके चक्कर में तुम जो है सब काम करते करते रह रहे हो उसको समझाना पड़ता है ये संसार वृक्ष क्या है तुम क्या हो जब तो ये नहीं समझाएंगे तब तक तो वो कुतर को छो, करना छोड़ेगा नहीं और यम नियम में लागू नहीं होता लग मतलब नहीं जा सकता अतएव कहते कि देखो हमें ये सहकारी साधन है कौन ये सत्य आदि जो साधन है ना ये सहकारी साधन है धारणा का उन सहकारी साधनों को वक्तव्य कहना चाहिए इस भाव से अगला जो उत्तर ग्रंथ बने ये तृतीय मुंडक को आरंभ करना आवश्यक हुआ प्राधान्य तत्व निर्धारण च प्रकारांतरण क्रिय थे लेकिन यहाँ भी लक्ष्य क्या है तत्व निर्धारण करना ही लक्ष्य होता है जब मंदाधिकारी को कह रहा हूँ वहां भी तत्व तो चिंतन जरूर करूंगा उत्तमाधिकारी तो के लिए तो है ही और मध्यमाधिकारी के लिए जो बताते हैं वहां भी तत्व तो को छोड़ के कोई बात नहीं बताई जाएगी इसलिए पूरे कहीं भी आप शास्त्रों में देखिए कर्मकांड का बीच में भी घुसा दिया है वेदांत को उपासना प्रकरणों में भी वेदांत बीच में एकाध उपनिषद मिल जाएगी और ज्ञान कांड में तो है ही भरा पूरा हो तो वही है तो इसलिए कि लक्ष्य को उसको याद दिलाते रहना है नहीं तो वो भर जाएगा बेचारा अब कर्म क्या कर्म की महिमा आगाध होते गए तो फिर तो बेकार है ज्ञान ज्ञान छोड़ो तो ज्ञान ध्यान को कर्म ही लग जाएगा लेकिन उसके लिए वहां पर बताना पड़ता नहीं कर्म तो है लेकिन कर्म से आगे कुछ और है <clears throat> उसके बारे में कथन करना जरूरी इसलिए यहाँ पर भी प्राधान्य रूप तत्व निर्धारण किया जाता है प्रकारांतर से किया जा रहा है अत्यंत द्रोगा क्योंकि वह अत्यंत द्रोगा है कृतम अभी तत्र तत्र सूत्र बोध मंत्र परमार्थ वस्तु अवधारणार्थ उपन्यास यद्यपि एक बार निर्णय हो गया दो बार निर्णय हो गया उसके बावजूद भी वह जगह जगह जो कही गई है उन सबको सूत्रभूत ही मानते हैं क्योंकि मंत्र है परमार्थ वस्तु का उदाहरण करने के लिए इसलिए बारम्बार उपन्यास किया जाता है सुपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिषस्वजात तयोरन्य पिप्पलम स्वात्वती अनष्टन्यो अभिचाकशीरी द्वा सुपर्णा सयोजा सखाया तो चिड़िया है ये अधिकरण एक अधिकरण है ब्रह्म सूत्र इसमें निर्णय करने के लिए मुंडक परिषद के कई मंत्रों पर कई अधिकरण बनाए हुए ब्रह्म सूत्र में कम से कम दस बारह अधिकरण हम देखो काफी चर्चा इसका किया क्यों मंत्र भाग है ना सूत्रबद्ध है अब इसको समझाना पड़ेगा सही सही नहीं तो फिर सब उल्टा पुलटा ले लेंगे शब्दों का इसे ब्रह्म सूत्र का इस पर जोड़ दिया है सुपर्ण दो चिड़िया है संयोजा हो साथ साथ रहने वाले एक साथ रहते सदा युक्त है एक दूसरे से बिछुड़ के नहीं चल सकते संसार में सभी वस्तु एक दूसरे से बिछुड़ सकते हैं इन जीव और ब्रह्म एक दूसरे से कभी बिछुड़ नहीं सकते है क्योंकि वह जीव ब्रह्म ही है उपाधि तो के कारण से भिन्न सा प्रतीत हो रहा है ना अतएव कहते हैं ये कभी बिछुड़ने वाले नहीं है ये संयोजक इतना नहीं सखायो समान अभिव्यक्ति का कारण इन दोनों की अभिव्यक्ति का साधन एक है कौन शरीर के अंदर हृदय की गुफा है सम्यक प्रकरण ख्यांत प्रकाशंत सखा सम्य प्रकार प्रकाशित होने का जो कारण है जो साधन है जो स्थान है वो एक है समान है अतएव इनका नाम सखा भी पड़ गया दोनों का ये दोनों एक दूसरे के सखा हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को प्रदर्भ गुफा में ही ख्यापन करते प्रकाशन कर डालते हैं सखायो सखा सखायो छांद है सुपर्ण ये जो जहावादेश गया वह को तो जो कर दिया गया ये सब छांद और आगे विचार होना चाहिए नहीं कि अन्यो अभिचा थी अन्यो के आवादेश होना चाहिए वह लोग नहीं किया या अ को पूर्व कर व्यंग पदार्थ वो भी नहीं किया कोई प्रक्रिया क्या होने से कोई प्रक्रिया नहीं हुई समानम वृक्षम परिशस्व जात है समान वृक्ष को दोनों के दोनों ग्रहण किए हुए हैं आलिंगन किए हुए हैं अर्थात आश्रित है जिसको पहले हो चुके अवाक शाखा बता चुके उर्द मूल अवाक शाखा है ऐसा यह वृक्ष कोई दोनों के दोनों आश्रित किए हुए हैं लेकिन दोनों में अंतर है थोड़ा एक तो तुम हो जो कि आप कर्म फल को भोगते रहते हो त्रियोर अन्य विप्रम स्वाद अति उन दोनों में से एक वह है जो स्वादु पिप्पलम अपने ही बनाए हुए सुंदर सुंदर जो कर फल रूप प्राप्त वस्तुओं को अति भोगते रहता है और अन्य एक दूसरा है जो वो अनशन किसी भी प्रकार का विषय भोग न करते हुए अभिचाकशीति निरंतर की टक टकाते देखते रहता आप सो भी जाते लेकिन वो देखते रहता है ये सो रहा है वो कभी सोता ही नहीं क्यों उसे सोने का नाम क्यों प्रकाश रूप है प्रकाश में नींद आएगी क्या प्रकाश में अंधकार होगा क्या भ्रम तो प्रकाश स्वरूप है ये तो उपाधि के कारण से इसका सोने का जैसा हो जाता है नहीं तो ये भी सोता नहीं जीव का सोएगा जीव सो जाएगा तो ब्राह्मण खत्म हो तो ब्रह्म सो गए फिर तो इसके जीव ब्रह्म तो एक है लेकिन उपाधि को लेकर व्यवहार होता है कि जीव सो गया और ब्रह्म सदा जगा रहता है क्योंकि अनित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला परमात्मा से चाहिए और कर्म फल का भोग वह नहीं करता हुआ भी केवल इस कर्म फल भोगता और कर्म के करता इसका निरंतर वो देखते रहता है हिसाब किताब रखते रहता है द्वा द्वौ सुपर्णा मैंने सुपरलव शोभन पतलव सुपरलव सुंदर है पंख जिनके ऐसे हैं दोनों के दोनों ठीक ऐसा कर दिया पक्षी सामान्य अथवा पक्षी के जैसे पक्षी का सदृश है कैसे पक्षी सदृश है हाँ तैत्र परिषद आएगा मालूम हो जाएगा है ना ये जो उत्तरा पक्ष दक्षिणा पक्ष है ना तो चल प्रतिष्ठा तक आएगा ही नहीं आएगा पक्षी घर बताएंगे कौन सा दारा पंग है कौन बाया पंग उसका पूछ क्या है सब बताएंगे नहीं बताएंगे वहाँ कहते तो पूछते कई पर्यायों में कई प्रकार से भूर भुआ स्वा महा लोगों को भी लेकर के पक्षी का आकार बताया हुआ है तो वो पक्षी के समान ये भी है इसलिए इनको इस तरह से कह दिया गया सुपर्णो सयोजा मैने संयोजव सहैव सर्वदा युक्त एक साथ सदा सदा युक्त होकर रहने वाले हैं इसलिए इनको सयोज कहा जाता है सखाया मैंने सखायो क्यों आख्यान हो समान आख्यान वाले मैं समान नाम वाले गया क्योंकि आख्यान शब्द नाम को बोलते शब्द को कहते नहीं नहीं समान अभिव्यक्ति कारण हो आख्याने अमर अपने प्रकाशन वर्ता ये समान अभिव्यक्ति का कारण वाले हैं समान है अभिव्यक्ति का कारण जिन दो का उन दोनों को कहते हैं समान अभिव्यक्ति कारण हो जैसे रूप और रस इन दोनों का अभिव्यक्ति कारण कौन नैयायिकों की भाषा में इसलिए रूप और रस को सखाय कह सकते हैं यानी तो उसी प्रकार यहाँ पर भी समझो दोनों के अभिव्यक्ति का कारणभूत तत्व तो एक है कौन हृदय रूपी गुफा ये शरीर कोई दिक्कत नहीं संदेव भूतो संतो समानम अविशेष उपलब्ध अधिष्ठान देखो स्पष्ट कर दिया एवं भूतो संतो ऐसा होते हुए ये दोनों के दोनों का समानम अविशेषम समानम वृक्षम परिशस्व जाते समानम ने अविशेषम किस विषय को लेकर आप विशेष गा रहे हो कत उपलब्धि अधिष्ठान उपलब्धि का अधिष्ठान के रूप से ये दोनों के दोनों समान है अतः इनके उपलब्धि का अधिष्ठान बताओ वस्तु कौन है वो जो समान होगा कद एकम वृक्षम एकम वृक्षम वृक्षम इव कहते वृक्ष कोई पेड़ नहीं है वाक्य में यहाँ कद पेड़ के समान पेड़ है अरे सामान्यता क्या हो गया कथे तो ये है वो वृक्ष क्या होता है उसका आप उच्छेदन कर सकते हो उसी प्रकार ये अविद्या आदि के उच्छेद कर सकते हो वृक्ष उच्छेद सामान्य उच्छेद की समानता को देखते हुए इसको वृक्ष को दिया गया शरीरम वृक्षम शरीर ही वृक्ष है इसलिए इस शरीर रूपी वृक्ष को परिषद स्वजाद परिष्वक्त बंधो दोनों के दोनों इस शरीर में वृक्ष को मानव तरह से आलिंगन किए हुए हैं है इनसे अलग नहीं होता इसी के अंदर सजा रहता है कोई न कोई शरीर में सदा चलते रहता है तो शरीर इसमें हो नहीं तो सुख शरीर तो है ही है उसके बाद उस शरीर में घूमते फिरते रहता है तभी सुख शरीर में ही दोनों के दोनों अभिव्यक्त होते रहते हैं तो मध्यम अधिकारी लिखा है ना इसलिए ऐसा बताना पड़ रहा है इस प्रकार से सुपर्ण इव एकम वृक्षम फलोपभोगार्थम जैसे दो पक्षियां एक वृक्ष को आश्रय कर लेती हैं अपने फलोपभोग करने के लिए उसी प्रकार से अयम ही वृक्ष और ये जो शरीर है ये भी वृक्ष ही है क्यों ऊर्द मूलो अवाक्षक हो फर्क कितना है भाई वृक्ष जिस पर चिड़िया बैठ के अपना कर्म फल भोग कर ले रहे हैं उस वृक्ष की अपेक्षा से वृक्ष में अंतर यह है इसका मूल ऊपर है शाखा नीचे है ना उस पेड़ में क्या होता है आप पानी कहाँ डालते हो ये मूल में और ज्यादा कहा है पूरा तो और यहाँ पानी कहाँ डाल रहे हैं ऊपर में तो डाल रहे हैं खाना पीना सब और ज्यादा कहा है वो इसलिए ऊर्ध्व लवाक शाप तो वैसे भी है प्रैक्टिकल में खाना पीना दाना कहाँ डालते हैं और कहा जा रहा है नीचे की ओर जा रहा है इसलिए वहां का ठीक विपरीत हुआ ना वहां का मूल नीचे है पानी नीचे डाल रहा है और ऊपर जा रहा है इधर अधोमूल ऊर्ध शाख हो गया हो और ऊर्ध मूल अवाक शाख हो गया अधर शाख हो गया ऊर्ध मूल हो अवाक शाख हो अश्वत्थ हो लेकिन न श्वत दीदी अश्वत्था ये अश्वत्थ आपका कुछ अव्यक्त मूल अश्वत्थ मैंने जिसका मूल उत्पत्ति का व्यक्तता नहीं है अव्यक्त मूल प्रभाव वाला है क्षेत्र संजय का क्षेत्र नाम का इधम शरीरम कौन पे क्षेत्र में भगवान ने भी इस बात को कहा क्षेत्र संघ क्या सर्व प्राणी कर फलाश्रय सगल प्राणियों के अपने अपने कर्म का फलाश्रय होता तो वस्तु तम परिशुद्ध तादृश वृक्ष रूपी शरीर को आलिंगित बनता सुवर्ण इव अविद्या काम कर वासनाश्र लिंगोपाध्या ईश्वर क्योंकि सुपर्ण दो स्पर्णों के समान यहां भी है अविद्या से जन्य कामनाएं कामनाओं के कारण से आपने कर्म कर दिया कर्मों से जन्य है वासना उस वासना का आश्रय जो लिंगा जो शरीर उपाधि उसी उपाधि में आत्मा मन जीवात्मा और ईश्वर दोनों के तय परिश्वक्त और अन्य उन दो जो परिश्वक्त आश्रत में उन दोनों में से एक क्षेत्र एक कौन है वो क्षेत्र जीवात्मा है लिंगोपाधि वृक्ष आश्रत लिंगोपाधि रूपी शरीर को आश्रित किया हुआ है करके क्या कर रहा है वो पिपलम कर्म निष्पन्नम सुगत लक्षणम फल पिपलम ने कर्म स्वकर्म का फल स्वरूप होता सुख दुखात्मक जो फल है वो स्वादु अनेक विचित्र वेदना स्वाद रूपक अनेक विचित्र वेदना मैंने वेदना ने ज्ञान अनुभव इधर ज्ञान को छक रहा है सुख को छक रहा है दुख को छक रहा है नहीं छक रहा है ये सुख दुख को छकते जा रहा है ये इसलिए कहते हैं ये सब क्या है कभी विचित्र वेदनाओं का आस्वाद रूप होने से इसका नाम स्वादु कर दिया स्वादु अति स्वादु अति मन भक्षियति उपभुंग अविवेक अभी क्यों अविवेक के कारण से उपभोग करते रहता है अविवेक उपभुंग और दूसरा जो है अनुष्ठन अन्य इतर ईश्वर जो दूसरा है ईश्वर है वो क्या है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है वह सर्वज्ञ है सत्योपाधि वो भी सत्योपाधि को लेकर रह रहा है नहीं तो उसका रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है ना वो भी वृक्ष में कैसे रहेगा जो व्यापक वस्तु परिचन्न तो का रह जाएगा उसमें तब कहते हैं सत्योपाधीश्वर शुद्ध सत्व रूपी उपाधि को लेकर के वो अंतर्यामी बनकर इसके अंदर विराजमान कहा जाएगा नाशना दे वह कर फल भोग नहीं करता प्रियरहिता असो भोज्य भोक्ता नित्य साक्ष्य तुस्ता मात्रेण ये प्रेरिता है अरे प्रेरिता है तो फिर सारा पाप पुण्य वही करवा रहा कहते नहीं नहीं प्रेरिता का तात्पर्य समझिए असो उभयो हो भोज्य भोक्त ये दोनों ही भोज्य और भोक्त भाव में विद्यमान समस्त जगत के अंदर यही प्रेरिता बना यही भी केन न प्रेरिता नित्य साक्षित्व सत्तावाद नित्य साक्षित्व नित्य साक्षित्व में यद सत्तम अवस्थान तवन मात्र नित्य साक्षित रूपी सत्ता मात्र से मैंने कहता नहीं है करो वो करो प्रकृतम चेष्टे स्वस्या कहा नहीं कहा ज्ञानवान अपनी भगवान ने कर दिया वो इसीलिए क्यों वो कराते नहीं है हम अपने प्रकृति के अनुसार चल रहे हैं तो उसके लिए विरोध नहीं करते ठीक है करो जैसे सूर्य जो है अपने प्रकाश और सत्ता के माध्यम से सबको प्रकाश दे रहा है लेकिन सूर्य तो नहीं कहा तुम चोरी करो मेरे प्रकाश में प्रेरक तो है वो सभी को कर्म करने के लिए प्रेरणा दे रहा है यदि वो ना चले तो कोई सो, सब सोते रह जाए कहेंगे अरे अभी जैसे कहते हैं ना लोग अरे अभी आधा घंटा है जगेंगे चिंता ना करो और वो जगे ही नहीं तब क्या होएगा चौबीसों घंटा रात हो जाए तो मुश्किल पड़ेगा ना व्यवहार तो वो जगने के माध्यम से हम सबको अपने अपने कर्म करने की प्रेरणा दे रहा है लेकिन हम सत्कर्म करेंगे कि असत्कर्म करेंगे विहित करेंगे कि अविहित करेंगे उसमें उसका कोई प्रेरणा का संबंध नहीं है वो अपने प्रकाशात्मक सत्ता मात्र से ही क्या कर रहा है हम सबको प्रेरणा दे रहा लेकिन गलत सलत अच्छा बुरा जो भी कर रहे हो हम अपनी प्रकृति के अनुसार कर रहे इसी प्रकार यहाँ भगवान में क्या है साक्षित रूपी सत्ता मात्र से हमें प्रेरणा देता है तो भला बुरा करने की कोई प्रेरणा नहीं देता वो अपनी संस्कार है अपनी वासनाएं अपने स्वभाव है प्रकृति है जिसके आधार पर हम कर रहे हैं वो केवल करने की प्रेरणा इतने मात्र से कि उसी के उसकी सत्ता के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते ये सूर्य का उगे बिना आपको प्रातः काल हुआ है नहीं तो प्रातः संध्या आदि कैसे करोगे उसी प्रकार आपने तय कर लिया ना कि सूर्य अमुक समय को उगता है भले आपको दिखाई देना दे उतने समय से पहले आप उज्जत करके कार्य करना शुरू कर देते हैं कि उसके उगना उसका उदय और आप ही आपके समस्त कर्म का प्रेरकत्व माना जाता है लेकिन वह सदसद कर्मों का प्रेरक तो नहीं होता सामान्य रूपेण प्रेरक है उसी प्रकार साक्षित्वात्म रूप से यहाँ पर बैठ करके ये ईश्वर अपनी सत्ता से हमें सकल कर्मों को प्रेरणा करने की प्रेरणा देता करने को प्रेरणा निरंतर देता है लेकिन यहाँ प्रेरकत्व भी सत्ता मात्र रूपेण समझो सो तो अनष्टन्यो अभिचाकृषी वह तो सात इसलिए वाद ईश्वर जो दूसरा वो अलस्तन्न विचार पश्यत्यो केवल बिना कर्म फल का किसी भी प्रकार कर्तृत्व भोक्तृत्व के संबंध की विधा केवल व्यक्ति रहता है दर्शन मात्र में तो उसे प्रेरितृत्व नाराजवत दर्शन मात्र ही उसकी प्रेरित प्रेरितृत्व समझो और कोई प्रेरकत्व उसके अंदर नहीं आ सकता राजा के समान नहीं राजा तो खुद भी लग जाता है ना दूसरों में चलो लड़ो मारो काटो बोलता हो फिर भी स्वयं भी लगा हुआ है मारने का में है या नहीं पहले जमाने में राजा लोग स्वयं तो लड़ते थे ना आजकल के जैसे तो है नहीं और अमेरिका बैठा हुआ बोले जा रहा और इधर जब मरने वाले मरे जा रहे हैं वो नहीं होता पहले है कि इसलिए न राजा तो पहला पुराना जमाने का स्थान देना आधुनिक दृष्टान नहीं देना जब खुद राजा लोग लड़ने जाते थे इसे वैसा प्रेरकत्व तो ना समझो यहाँ खुद ईश्वर भी कर रहा और दूसरे को भी तू भी कर ले साथ साथ नहीं ऐसा नहीं है यहाँ इसे कहते न राजत प्रेरितम तस् दर्शन मात्र में तस् प्रेरित तत्प्रयोजन सदी समान वृक्षे तोक्त शरीर पुरुष भोक्ता जीवो विद्या काम कर फल रागादि गुरु भाराक्रांत अलापुरी व सामुद्र जल निमग्न निश्चय देहात भाव मापन्नो अयम एवं अहम इत्यादि इत्यादि व्यवहार करता है जब ऐसा है तो आपने कहा एक तो प्रकर फल स्वाद तो फल स्वाद थी उसका विवरण कीजिए वो कौन है वो किस प्रकार से कर्म फल का भोग करता है वो समझाओ तब व्यक्ति को समझ में आया ना मध्यम अधिकारी को तब समझ में आ गए मेरी कथा हो रही है निर्गत तो समझ में आ गए उसको और हाँ, होंगे तो चिड़िया या करता होगा कर्म फल भोग करता वो दूसरा ईश्वर होगा लेनो कर्मफल भोक्ता जो पहला चिरो मई हूं ये क्या समझ में आएगा उसको इसलिए इसको बताने के लिए कहे कि देखो समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचति मुह्यमान जुष्टम यदा पश्यत्यन्यम ईशमस्य महिमान वीत शोक ईश्वर के साथ इस शरीर रूपी वृक्ष पर रहने वाला यह जीव नामक जो पुरुष है वह क्या है निमग्न ये संसार में डूबा हुआ रहता है और डूबा हुआ होकर क्या कहता है अपने आप को अनिशया और कहता है भाई मेरे पास कोई सामर्थ्य मैं तो अल्पज्ञ हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता अरे आए मेरा बच्चा मर गया बेटा मर गया इत्यादि रोती फिर रहता ये हो गया वो हो गया अनिशया मुह्यमाण सोचती असामर्थ्य को समझते हुए मोहित होकर के विभिन्न प्रकार का शोकों को प्राप्त करता है इन वही जीव यदा तो जब यह ऋषि जुष्टम ईशम अन्यम पश्य ऋष्यादियों के द्वारा ध्यान आदि माध्यम से जो सेवित है वह ईश्वर को और इस जगत को उस ईश्वर की महिमा है ऐसे समझ लेने पर वीत शोक ईशम पश्चते तब जाकर के उसका अपना स्वरूप होता है ईश्वर वो अनुभव करता है सती समाने वृक्ष यथोक्त शरीर है पूर्वोक्त लिंग शरीर आपका शरीर में पुरुषो कौन भोक्ता जीवा उसको लेना है अविद्या काम का फल रागारी गुरुवार आता हम तो अविद्या काम अविद्या जिन कामना कामजन कर्म कर्म का ही फल होता है राग द्वेष आदि महान भार गुरु भार मैंने महान भार को से आक्रांत थका हुआ जैसे भार ढोते ढोते आदमी थक जाए वैसे ही अविद्या काम कर्म फल स्वरूप बाहर को ढोते ढोते भी परेशान है वो कहते हैं सिर्फ गुरु सूत्र में वो गाते रोज निकेतन में पाप बोझे से लदी नैया कहते कि नहीं कहते तो पाप बोझे से लगा हुआ है और लगा हुआ है बेचारा और समुद्र भवसागर में डूब रहा है अपना हाथ जो तो उड़ो बचा लो कहते हैं कौन बचा वे खुद नहीं बचने को तैयार है गुरु ग्रांत हो तो कैसे डुबकी लगा रहे वही बता रहे अलाबुरीव सामुद्रे जले अलाबू के समान ये लौकी होता है लौकी एक कड़वा लौकी होता है है ना तुम भी जैसी दिखता है है ना उसका बीच का माल निकाल दो इधर छेद कर दो पकड़ने की जैसे हो जाता है वो जो तुम भी को अलाबू करते तो तुम भी समुद्र में डालो कहीं नदी में डालो कहीं भी डालो क्या हो जाता है पानी तो भर जाता है फिर भी वो तैरते थे कुत्ते काम करते रहते हैं दौड़क दौड़क अंदर जाएगा बाहर है अंदर जाएगा बाहर है ये जो लोटा होता है यू बना करके यू चौड़ा कर दो ऊपर का हिस्सा तो क्या होता है वो भी ऐसे ही डूबेगा ही नहीं कभी तो वो जाएगा नीचे ऊपर है वो जाएगा नीचे ऊपर जैसे तैरना नहीं जानने वाला पहली बार कूद जाए उसका भी यही हाल होता है चाहिए नहीं फिर वह परेशान हो छटपटा था तो अलापुरी व जले निमग्न उसी प्रकार का हुआ है निश्चय न निमग्न का मतलब क्या निश्चय न देहात्म भाव आत्मन निश्चय भाव से वो यही समझा है मैं ये शरीर ही मैं हूँ क्या निश्चय उसका वही बता रहे हैं देह भाव को कैसे प्राप्त हुआ है अयम एवं हम ये जो शरीर वाला देह यही मई हूँ और अमुष्य पुत्रो मैं अमुक का बेटा हूँ अमुक का पोता नाता हूं मैं दुबला हूं मैं मोटा हूं मैं गुणवान हूं अरे मेरे अंदर कोई अच्छा गुण नहीं मैं तो बेकार हूं सुखी दुखी मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ इतम मृत्यु इस प्रकार का ज्ञान कर लेता है नास्त्य अन्य थे और यही सोचते रहे मेरे से अन्य कोई दूसरा हो नहीं सकता ईश्वर आदि नामक हो अस्माध्यान अन्य आत्मा नास्ती इस शरीर से अलग कोई दूसरा आत्मा नाम का वस्तु नहीं है यह मानता है इसलिए शरीर का जन्म लेने देता वो मेरा जन्म हो गया मेरा बर्थ डेट है ये बोलता अरे शरीर का बर्थ डेट को अपना बर्थ डेट मान लेता है और शरीर का जन्म दिवस को मेरा जन्म दिवस कर मनाता भी है जबकि इस आत्मा का न जन्म दिवस है न मरण दिवस शरीर का जन्म दिवस है शरीर का मरण दिवस तो ये कहता है इसी भाव ये समझ गया वो मेरा ये शरीर से बिन कोई आत्मा नहीं है इसलिए मेरा इस शरीर का जन्म होने से मैं जन्म लिया जायत है मृत है मैं मर गया मैं अमुक से संयुक्त हो गया मैं अमुक से वियोग को प्राप्त कर गया इति संबंधा संबंधी बांधवी ही इस प्रकार से अपने बांधवों के साथ स्वयं को संबंधी मान लेता है नतीजा क्या निकलता है अतो अनिशया न कस्यचित समर्थ अहम अनिशय मैंने तो यही निश्चय कर लिया हाँ, मैं तो कोई भी काम करने का सामर्थ्य वाला नहीं किसी को ना जिंदा रह सकता किसी को नहीं मार सकता मैं कोई भी काम करने में वाक्य में समर्थ नहीं हूँ कई बार होता है आदमी लगा रहता है कुछ भी नहीं निकलता परेशान हो जाता है कई बार बैठे बैठे सारा काम होते रहता है बड़ा आश्चर्य अब प्रारंभ कर्म भोग प्राप्त होना है तो घर बैठे क्या है तो कोई आगे पकौड़ी खिला दे उल्टी होगी क्या करोगे घर में कहीं गए नहीं कुछ खाए नहीं पिए नहीं बड़ा प्रेम भाव से किसने बनाया खिलाया क्या अब कर्म फल है ना ये तो है कि बाहर गर्मी में घूम के आए भाई इसलिए गड़बड़ हो गया तबियत कुछ भी नहीं तो होना होता है ना घर बैठे हो जाता है और नहीं होना होता तो तुम लाने की चेष्टा करो उल्टा पुलटा दुनिया भर खा लो तो, तो हम बीमार पड़ जा रहे पड़ेगा ही नहीं सब हजम होते रहता है बड़ा आश्चर्य ये हमने अनुभव किया है एक बार स्कूल में बड़ा तंग आ बच्चे बड़े था क्लास मास्टर बना गए मास्टर कहा तक वो बड़े हैं बच्चों के साथ हमने सोचा उल्टा पुलटा खाओ बीमार हो जाए चार दिन ठीक रहेगा तो उल्टा पुलटा खाया हाँ उल्टा तब बढ़िया हो गया मैंने तो तो करवा दो चाहते रगड़ता है तो यही रगड़ दी खोपड़ी खा जाए पे इसलिए हमको बीमारी होने नहीं दे रहा है और अगर तुम होना नहीं चाहते जब उसे डायबिटीज आगे घुसा दिया क्या कर क्या करे तो प्रारंभ कर्मानुसार सब होता है इसलिए कहते हैं लेकिन ये अन्विषया न कसिन समर्थ हम पुत्रों में नष्ट हो इसलिए मेरा पुत्र तो मर गया नष्ट हो गया मदान में भारिया मेरी पत्नी मर गई कि मैं जीवित ना मैं जी के क्या करूंगा ऐसे ऐसा उल्टा पुलटा बकवास करता है इतवन दीन भावो अनिशा इस प्रकार की जो दीन भाव है इसी का नाम अनिशा है तया शोच संतप्य उसी कारण से संतप्त होता है शोक करता है शोक भी क्यों हुए अनिशा के कारण से अरे मुही अमारो अनेक अनंत प्रकार अविवेकत चिंता आपद्यमान है अनेक अनर्थ जो उसके साथ विभिन्न प्रकार उपस्थित हो रहा है उसके अविवेक करने के कारण से चिंता से युक्त होकर के उसके अंदर मोह हो आ जाता है तो विवेक करे तो फिर मोह नहीं होगा मोह का नाशक ही विवेक है इसमें भी सीढ़ी दर सीढ़ी होता है आप करें विवेक वैराग्य विवेक हो ही गया फिर मोह हो गया दूर हो गया मोह तो मोक्ष हो गया ना फिर आगे क्यों बोला वैरागी करो सात संपन्न हो मोक्षित हो वहां तात्पर्य विवेक स्वरूप संबंधी मोह निवृत्ति नहीं धर्म संबंधी मोह निवृत्ति धर्म में भी कर्म संबंधी मोह निवृत्ति और ईश्वर संबंधी मोह निवृत्ति दो अलग अलग चीजें इसलिए गीता जी में आप देखोगे पहला शब्द में कर्म संबंधी कर्मात्मक धर्म संबंधी मोह का निवृत्त किया फिर द्वितीय में ईश्वर आतंक धर्म संबंधी मोह को निवृत्त किया और अंतिम शर्क में सर्व संबंधी मोह मोह का निवृत्ति का मतलब यह नहीं हो जाता है कि भाई हम सीधे मुक्ति हो गया मोह की भी अनेक सीढ़ी है और उसकी निवृत्ति भी अनेक प्रकार का अलग अलग विवेक से होता है पहले वाले तो परीक्षा रोकान कर्म चित्तान इतने मात्र से ही आपको कर्म संबंधी मोह का विवेक अपने आप को जाता है अब मानने लगो कि मैं अलग हूँ ईश्वर अलग है सब अलग है फिर ईश्वर संबंधी मोत्तम निवृत्त होगा जब ये निश्चय कर लिया भाई हम इतने कर्म करने के बावजूद भी क्यों दुख भोग रहे इसका मतलब मेरे इस जन्म के कर्म नहीं है जो ये दुख दे रहे हैं कोई और जन्म होगा और जन्म उसके हिसाब किताब कौन रखा है रखने वाला कोई होगा तो उसी को लोग ईश्वर कहते हैं तो ईश्वर को स्वीकार करेगा जब उसको स्वीकार कर लेगा विचार करेगा फिर आगे और विवेक बढ़ता है भाई उस ईश्वर का स्वरूप क्या मेरा स्वरूप क्या मेरे और ईश्वर के बीच हुई जो दुनिया दिख रही जगत का स्वरूप क्या है जब इनके स्वरूप का चिंतन करने लगेगा इसका विवेक जैसे जैसे होते जाता है अब उसको जीव ब्रह्म की अनुभूति तो क्रमश जा रहा है ना वो इसलिए यहाँ पर भी कहते कि देखो कि वो व्यक्ति भले ही अनेक अनेक अनर्थ प्रकार अविवेकतया चिंता आपत्यमान स एवं प्रेत तिरंग मनुष्यादि मनुष्यादि योनिषु आजवं जीवी भाव आपत्ति वो निरंतर इस प्रकार से प्रेत त्रिय मनुष्य आदि विभिन्न योगियों में आज मन चवी भाव मापन बड़ी शीघ्र और झट झट झट जाते रहता है मौका ही नहीं मिलता अरे एक आध हजार साल मिल जाता आराम से आयु जो है तो शायद अक्कल जल्दी खुल जाए और सौ सौ साल में पता नहीं चलता कब बचपन बीता कब जवानी बीती कब बुढ़ापा गया फिर खत्म ही हो भागता ही आयु पता ही नहीं चलता समझ में आ रहा है पैंतालीस उम्र होगी अभी तो कुछ हुआ ही नहीं लगता है क्या हुआ है अभी कुछ नहीं तो होगा क्या आगे कुछ नहीं होगा क्या कुछ कुछ है नहीं विवेक होगा